क्रतुकरण प्रकार में प्रश्नपूर्वक प्रकटयती क्रतुम कुर्वित निश्चय करे ये मनोमय प्राण शरीर भारूप मनोमय और प्राण शरीर ये जो दो विशेषण दिया है यद्यपि जीव में ही है मनोमय मनोमयत्म प्राण सजत्व तो भी जीव ब्रह्म की एकता को विवक्षा करके ब्रह्म में भी कहा गया ऐसे ब्रह्म का चिंतन करें आगे आगे सत्य संकल्प सत्य संकल्प यश्य स्वयं सत्य संकल्प सत्य शब्द का अर्थ है अवितथा वितथा विगत तथा ऐसा नहीं तो वितथा न वितथा तो अवितथा यथार्थ सत्य सत्य अर्थ वितता संकल्प यश्य स्वयं सत्य संकल्प टीका में सत्य संकल्प इत्यत्र विशेषण में ध्वनितम अर्थम दर्शयती सत्य संकल्प दिया ये जो परमात्मा का संकल्प सत्य का है इससे कि तरह ध्वनित सूचित अर्थ को दिखाते हैं न यथा संसारे न एवं अनेकांतिक फल संकल्प ईश्वर से इत्यर्थ संसारी का संकल्प ज्ञानी का संकल्प अनेकांतिक फल है अनेकांतिकम फलम यश्य कुछ निश्चय करता है कभी होता है कभी नहीं होता है अनेकांतिक फल होता है संकल्प जीव का अज्ञान का ईश्वर का संकल्प ऐसा नहीं है जो संकल्प करते हैं वही होता है इव शब्द तथार्थ संसारी नो न यथा संसारी न तथा अनेकांतिक फल संसारिक जैसे अनेकांतिक फल इस प्रकार ईश्वर का नहीं है कथम संसारी संकल्प से अनेकांतिक फलत्म यदि ईश्वर का संकल्प सत्य है जो निश्चय करते वही होता है तो संसारी का संकल्प क्यों अनेकांतिक फल को हुआ उसका फल व्यभिचार क्यों जैसे निश्चय करता है ऐसे क्यों संपन्न नहीं होता है ऐसे संक्रामण कहते तत्र आह अनृतेन मिथ्या फलत्व हेतुना प्रत्युढ़वात संकल्प से मिथ्या फलत्व प्रत्युढ़ अनृतेन है मिथ्या मिथ्या फलत्व हेतुना तो ये मिथ्या फलत्व से संकल्प में फल ऐसा नहीं होता है इस हेतु के द्वारा ढका गया आच्छादित है संकल्प से मिथ्या फलकत्व मिथ्या पर्वत का हेतु अज्ञान है अज्ञान से प्रत्युर है अज्ञान के कारण ही उसका संकल्प मिथ्या पर्वत होता है संकल्प से अनृतेन संसारिणी प्रत्युगत्व वाक्य शेषम है संसारी का जो संकल्प अनुत से ढका गया आच्छादित है प्रत्युड़ है इसमें वाक्य शेष प्रमाण देते हैं आगे कहेंगे वक्षति अमृत में ही प्रत्युठाई जीव अमृत अज्ञान से ही ढका गया अज्ञान से आच्छादित तो होने से अज्ञान के कारण कुछ संकल्प करता है फल नहीं होता है ईश्वर में ऐसा नहीं है आकाश आत्मा आकाश आत्मा ऐसे आकाश के समान इसका आत्मा स्वरूप है आकाश एव आत्मा स्वरूपम यश्य स आकाश आत्मा परमात्मा का स्वरूप निरूपण करने के लिए कोई दृष्टांत नहीं मिलता है कुछ दूर तक आकाश के दृष्टांत हो जाता है आकाश के समान जिसका स्वरूप आकाश आत्मा जड़ा और आकाश इतर न तुल्यता इतिहास क्या है आकाश के साथ कैसे दृष्टांत आकाश को दिया आकाश तो जड़ है परमात्मा अजड़ चेतन है तो जड़ा जड़े हो आकाशे तरय हो आकाशस्य आगे इतरस्य इतर कौन है ब्रह्म परमात्मा एक आकाश और एक इतर ईश्वर ये दोनों एक जड़ और एक अजड़ है ईश्वर क्या है जड़ ईश्वर है अजड़ आकाश है जड़ा जड़े हो आकाश इतर हो न तुल्यता दोनों में तुल्य कैसे आकाश के समान आत्मा कैसे आकाश आत्मा ऐसे क्या आते क्या आकाश इव आत्मा ऐसे है परमात्मा का स्वरूप आकाश के जैसे के हो कैसे होगा इति आशंका सर्वगतत्व सूक्ष्मत्व रूपाधीनत्व च आकाश तुल्यता ईश्वर से सादृश्य जहाँ लेते हैं कुछ अंशों को लेकर के सादृश्य होता है नहीं तो सब समान ही हो जाएगा सब समान हो जाएगा तो उपमा उपमेय भाव नहीं बनेगा एक ही हो जाएगा चंद्र एवं मुखम कहते हैं मुखम चंद्र चंद्र के समान चंद्र के समान मुख कैसे हो सकता है कुछ अंशों को लेकर के वर्तुल तो गोलाकार है आह्लाद तत्व है कुछ लेकर के हो सकता है नहीं कि समान हो जाएगा चंद्र तो कितने ऊपर है मुख तो पास में चंद्र के समान कैसे होगा चंद्र में कितने प्रकाश मुख में से कहाँ प्रकाश रात में चंद्र प्रकाश पूरा पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है और मुख से कहाँ प्रकाशित होती होती पृथ्वी तो कुछ अंशों को लेकर के सादृश्य होता है परमात्मा और आकाश में ये सादृश्य है सर्वगतत्व सूक्ष्मत्व रूप हिन्नत्व ये समान है आकाशवत सर्वगत नित्य सर्वगत है वेदांत मत के अनुसार आकाश भी सर्वगत नहीं है परिचिन्न है क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है आकाश की तो भी न्याय वैशेषिक सिद्धांत में सर्वगत है वैज्ञानिक लोग भी आकाश को सर्वगत मानते हैं लोक में प्रसिद्ध आकाश का कहाँ होगा सर्वगत है तो सर्वगतत्व जिस प्रकार आकाश में प्रसिद्ध है ऐसे परमात्मा सर्वगत है व्यापक है और सूक्ष्मत्व आकाश में जैसे सूक्ष्मत्व है ऐसे परमात्मा में सूक्ष्मत्व है सूक्ष्म का अर्थ नहीं अनुपरिमाण आकाश तो अनुपरिमाण नहीं परम महत्व तो परिमाण है इसे सूक्ष्म का अर्थ आकाश जिस प्रकार सब के अंदर प्रविष्ट हो जाता है अंदर सब के अंदर बाहर है ये सूक्ष्म है उसको रोकने वाला कोई नहीं पदार्थ है इसी प्रकार परमात्मा सब के अंदर प्रविष्ट है और रूपादिहीनत्व रूपादि इसमें रूप रसगंध स्पर्श आदि ही नहीं आकाश में से परमात्मा है भी रूपादिहीनत्व ये सादृश्य है आकाश तुल्यता ईश्वर से ईश्वर से आकाश तुल्यता कभी ईश्वर अवतार ग्रहण करते रूपादिमान होते हैं वो तो इस प्रकार माया से है सर्वगत परमात्मा में रूपादि नहीं है आकाश आत्मा आगे सर्वकर्मा सर्वकर्मा क्या विभूति मालूम है सर्वकर्मा विभूति वचन एक वचन है बहुवचन एक वचन सर्वकर्मा आकार कैसे होगा कर्म शब्द तो है कर्मा शब्द तो है कर्म तो कर्मन का प्रथम क्वेश्चन क्या बनता है कर्मा बनता है कर्म का कर्मन का कर्मा बनिया कर्मन का बनिया कर्म कर्मणि कर्माणी प्रथम क्वेश्चन कर्म है कर्मा नहीं होता है पुलिंग नहीं नपुंसक है राजन का तो राजा बनेगा कर्मन का कर्म चर्मन का चर्म चर्म चर्मणि चर्माणी कर्म कर्मणि कर्माणी तो कर्म कैसे होगा ये बहुग्री समास है सर्व कर्म यश स सर्वकर्मा अन्य पदार्थ प्रधान है ये अन्य पदार्थ ईश्वर पुल्लिंग है पुल्लिंग होने से सर्वकर्मा हो गया केवल कर्म शब्द रूप चलाएंगे तो कर्म कर्मणि कर्माणि बनेगा किंतु सर्व कर्म अस्य ईश्वर से ईश्वर सर्वकर्मा पुलिंग हो गया सर्वनाम संचा समुद्र पता दीर्घ हो जाएगा सर्वम सर्वम क्या विश्वम तेन ईश्वर क्रियते जगत सर्वम कर्माश्य सर्वकर्मा स्वम तेन ईश्वर क्रियते सारा विश्व जगत को ईश्वर बनाते हैं कि जगत सर्वम कर्माश्य कर्माश्य क्या विरोधी कर्माश्य क्या विरोधी बबरी कर्माश्य कोई है प्रोड़ कर्माश्य कर्म अस्य दो पदे कर्म आगे कर्म क्या है प्रथमांतर जगत सर्व कर्म अस्य अस्य कस्य है क्या चिंता ईश्वर से सर्व कर्म अस्य ईश्वर से स सर्वकर्म सकर ईश्वर सर्वकर्म ठीक है सर्वकर्मे सर्वक्रिया स्वयत्व ईश्वर से उच्यते तदयुतम कर्म का तो क्रिया करेंगे तो सर्व क्रिया श्रेयत्म क्रिया ईश्वर में विपत्ति की नहीं निष्क्रिय तो सुते वो तो निष्क्रिय है सक्रिय कैसे होगा इतने तो आशंक्य व्याचस्ट कर्म का तो क्रिया नहीं करना यहाँ कर्म का तो चरणात्मक कर्म क्रिया है या नहीं कर्म का तो क्या है चरणात्मक कर्म है नहीं सर्वम कर्म कर्म क्या है कर्म क्या है यहाँ कर्म का तो क्या है क्रिया या चरणात्मक कर्म क्रिया क्रिया मानेंगे तो सक्रिय हो जाएगी ईश्वर क्रिया में कार्य सर्व विश्वम तेम ईश्वरण क्रिय क्रियते कर्म कर्म का अर्थ कार्य क्रियते कर्म सर्व ईश्वरण क्रियते जगत सर्वम कर्म से कर्म का अर्थ कार्य हुआ सारा जगत ईश्वर का कार्य कर्म का से क्रिया करेंगे तो सर्वा क्रिया अस्य सब क्रिया ईश्वर में ईश्वर का क्रिया हो जाएगा चलनात्मक कर्म है क्रिया ये कर्म चरणात्मक नहीं यहाँ कर्म का तो है कार्य सारा ईश्वर सारा जगत ईश्वर का कार्य है सही सर्वस्व करता है किसते सब ईश्वर करता है सबका आगे सर्व काम सर्वे काम अस्य सर्व काम सर्व काम का लौकिक विग्रह कैसे होगा सर्व काम लौकिक विग्रह लौकिक विग्रह पूछते सर्वे कामन सर्वे काम काम शब्द तो काम या काम नकारांत या अकारांत सर्वे काम सर्वे एक वचन है बहुवचन है बहुवचन अकाम शब्द तो एक वचन होगा सर्वे कामा लिखा है पुस्तक नहीं सर्वे कामा अस्य ये ही लौके विग्रह है अभी बताया नहीं लिखा नहीं सर्वे कामा अस्य उसमें दो सरिता दे दिया सर्वे कामा अस्य अलौक्य विग्रह कैसे होगा सर्वम सर्वा सर्व यश काम काम नकारांत है अकारांत तो काम क्यों बोल रहे सर्व जस काम किस सूत्र से समाप्त होगा हम्म? अनेक मन्य पदार्थ सर्वे काम ऐसे सब काम तो ईश्वर का है किंतु दोष रहता दोष रहता अशेष सर्व काम दोष रहित क्यों कहा टीका संसारी जो विशेष सिद्धार्थम विचिनष्टि संसारी के जो काम उसके अपेक्षा विशेष ईश्वर में संसार से विलक्षण ईश्वर है इसलिए कहते काम दोष रहित काम है दोष युक्त नहीं है धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरत सब स्मृत गीता में कहा गया भूत में काम तो हूँ किंतु धर्म अविरुद्ध काम दोष रहित काम है सर्व काम हूँ उदाहरता स्मृति आश्रित उत्तम आक्षिपति ये स्मृति जो सर्व धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोषु इसी स्मृति को आश्रय करके आक्षेप करते भाष्य में न कामोस्मी वचनाद यह बहुबरी न संभवती सर्व काम भगवान कहते धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी अहम कामो अस्मी परमात्मा स्वयं काम है तो सर्व काम करेंगे तो बहुब्री में सर्वे कामा अश्य ईश्वर स्वयं काम है या ईश्वर का काम है भगवान कहते कामोस्मी मैं काम हूँ और बहुब्री करेंगे तो उसका काम सर्वे कामा अस्य भले ही दोष रहित हो किंतु कामा अस्य ईश्वर स्वयं काम नहीं हुआ ईश्वर का काम दोष रहित है तो ईश्वर का काम है या ईश्वर काम है गीता में तो भगवान कहते कामोस्मी कामोस्मी वसनाथ यह बहुग्री न संभवती सर्व काम थी बहुब्री नहीं हो तो क्या समास होगा सर्व काम में बहुब्री नहीं हो तो क्या समास होगा कर्मदार हो जाएगा सर्वे चते कामाश्च सर्व काम सर्व कामा हो जाएगा सर्व काम नहीं बनेगा सर्वस्व असो काम से सर्व काम हो जाएगा कर्म करेंगे तो ये शंका बहुग्री नहीं होगा सर्व काम इति उत्तर देते न टीका में काम सामनाधिकरण बाधक उपलम्बात बहुबरी रे इति पर्यटति काम सामनाधिकरण ईश्वर से ईश्वर स्वयं काम है कामोस्मी और सर्व काम काम समानाधिकरण ईश्वर होगा तो समानाधि सामनाधिकरण क्या है दो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो किंतु एक अर्थ में वृत्ति हो तो समानाधिकरण कहते तो हैं भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का ये शब्द यो हो एकार्थ वृत्तित्व नीलम तद उत्पलम च नील एक शब्द उत्पल एक शब्द है उत्पल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त उत्पलत्व जाति कमलत्व जाति है नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है नील रूप नील रूप अलग उत्पलत्व जाति अलग है दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो गया भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कहे शब्द ये हो नील उत्पल दो शब्द है दोनों की वृत्ति एक अर्थ में जिस जो कमल नील रूप वाला है उसको कमल कहा जाएगा नील रूप वाला हो तो कमल कहा जाएगा उसको नील कहा जाएगा मिलन नहीं कहा जाएगा यदि नील रूप वाला है नीलम नहीं कहा जाएगा नीलम से कमलम से तो कमल के शब्द से उसको कहा गया नील शब्द से कहा गया एक अर्थ में नील शब्द और कमल शब्द दोनों की वृत्ति हुई भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कयो शब्द और एक अर्थ वृत्तित्व सामनाधिकरण काम और ईश्वर दोनों एक अर्थ होगा भिन्न प्रवृत्ति निमित्त तो शब्द तो है किंतु एक अर्थ कैसे होगा ईश्वर और काम काम इच्छा है गुण ईश्वर द्रव्य है आत्मा बाधक तो बहुब्री रेव इसलिए सर्वे कामा अवश्य करना पड़ेगा कर्मधारय नहीं होगा सर्वस्व सु कामस्य से कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि समानाधिकरण हुआ तो कर्मधारय होगा समानाधिकरण नहीं हो सकता है इति परिहरते न कामस्य कर्तव्यवाद शब्दादिवत से देव से काम स्वयं कर्तव्य है ईश्वर तो नित्य है काम के साथ ईश्वर का समानाधिकरण कैसे होगा यदि ईश्वर भी काम हो जाएगा शब्दाधिपत पारार्थ से देवस्य देवस्य ईश्वर से जैसे शब्द आकाश में आश्रित है रूप रसादि किस द्रव्य में आश्रित है ईश्वर यदि काम रूप हो तो ईश्वर भी किस में आश्रित हो जाएगा परार्थ हो जाएगा काम जैसे परार्थ है गुण अन्य के लिए ऐसे ईश्वर भी परार्थ पारार्थ्य गौण हो जाएगा देवस्य इसलिए काम सर्वे काम अस्य बहुग्री करना पड़ेगा सर्वे काम अस्य में बाधक क्या है सामानाधिकरण होने में तस् कार्यत्वा तदैके ब्राह्मण अनादितम बाध्य थे चेतन से सत्ता से काम से तदैके ब्राह्मण स्वातंत्र यही बाधक है तस्य कार्य कार्य कार्यत्म कार्यत्म काम से काम ये कार्य कर्तव्य तस्य कार्य तस्य कस्य काम से कार्य काम स्वयं कार्य है तदेक ब्रह्मण काम के साथ ब्रह्म की एकता मानेंगे तभी कार्य हो जाएगा तो अनादि होगा जिस श्रुति में अनादित्व कहा गया बाध्य थे अनादित्व का बाद हो जाएगा यदि काम के समानाधिकरण ईश्वर ब्रह्म हो और काम चेतन का शेष होता है चेतन का उपकार का चेतन के लिए होता है काम इच्छा तो चेतन जीव के लिए होता है तद ऐक्य ब्रह्मण काम के साथ ब्रह्म की एकता मानेंगे तो ब्रह्म भी चेतन का शेष हो जाएगा स्वतंत्र नहीं होगा ब्रह्म किसका शेष नहीं स्वयं प्रकाश स्वतंत्र है स्वातंत्र ब्रह्म में ये तत्यज्येत यते स्वातंत्र के हानि है तथा जो कर्म धारया असंभवाद बहुग्री रे अर्थ इसलिए कर्म धारण संभव नहीं है कि शब्द में सर्वकाम शब्द में कर्म धारय संभव नहीं तो क्या समाज होगा बहुग्री तो क्या विग्रह होगा सर्वे कामा अश्य सर्व काम और कर्मधारे होते तो क्या होता सर्वस्यासु कामश्चैति सर्व काम कर्मधार नहीं होगा कथन तरी कामोस्मी गीता में कैसे भगवान कहते धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरत मैं काम हूँ कैसे कहते हैं तादात्म स्मृति एक रूपत्व ईश्वर स्वयं काम ऐसे कहते इतिहास क्या है तस्माद में तस्माद यथेय सर्वकामेति बहुवृष तथा कामस्मेति स्मृत्यर्थ वाच्य जैसे सर्वकाम शब्द में क्या समास हुआ बहुवरी सर्व काम सर्वे काम अस्य ईश्वर में काम है ईश्वर स्वयं काम नहीं है तो कामोस में भी, भी वही अर्थ करना पड़ेगा कामोस में भी काम का अर्थ कामवान काम का अधिकरण में हूँ ऐसा करना पड़ेगा तस्मात का था कामेश्वर यो सामानाधिकरण असंभव ईश्वर और काम दोनों में सामानाधिकरण एकार्थ वृत्ति तो संभव नहीं है प्रकृत श्रुतो बहुग्रीर यथेष्ट प्रकृत श्रुतो सर्व काम श्रुति में जैसे बहुग्री इष्ट हुआ तथा स्मृतावपी कौन सी स्मृति है गीता गीता जो स्मृति है काम उसमें ये स्मृति में भी ब्रह्म पारतंत्र मात्र काम से विवक्षितम काम ब्रह्म के परतंत्र है इतने विवक्षित है काम ब्रह्म परतंत्र है तो कामोस्मी में व्याकरण से अर्थ करेंगे एक अर्षादिव्य अच सूत्र है अर्षादिव्य अच के अच प्रत्यु होता है कामो अस्य अतिथि कामो भी बन जाएगा अर्षादि अच करें तो कामवान के अर्थ में काम अर्थ भी काम शब्द भी बन जाएगा ऐसे क्यों करना जब स्पष्ट है कामोत्मी गीता में कहा गया वो काम का आश्रय काम के ब्रह्म के परतंत्र ही काम काम ईश्वर में आश्रित ऐसे अर्थ क्यों करेंगे इसलिए कहते श्रुति अनुसार न स्मृति नेतव्यवाद इत्यर्थ स्मृति को श्रुति के अनुसार लेनी चाहिए रघु काव्य में क्या मार्ग मनुष्य स्वर धर्म पत्नी श्रुते रिवार्थम स्मृतिरम न गच्छत मनुष्य स्वर धर्म पत्नी मार्गम अन्वगछत मनुष्य स्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धर्मपति सीता मार्गम अन्वगछत पीछे चलने लगी जब रामचंद्र वनवास में गए सीता जी उनके पीछे चलने लगी अन्वगछत अन्वगछत श्रुते रिवार्थम स्मृति उसमें दृष्टांत दिया जिस प्रकार स्मृति श्रुति के पीछे चलती है स्मृति किसके पीछे चलती है श्रुति के पीछे जैसे स्मृति चलती है इसी प्रकार भगवान राम के पीछे सीता चलने लगी वनवास के समय में रघु काव्य में मार्ग मनुष्य स्वर धर्म पत्नी श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्न गच्छत स्मृति जिस प्रकार स्मृति के पीछे चलती है सर्वतः स्मृति का अर्थ स्मृति के अनुसार करना पड़ता है इसलिए कामोस्मी का अर्थ काम नहीं ईश्वर काम का आश्रय आगे सर्वगंध सर्वगंध में समाज कैसे होगा सर्वोगंधा सर्वे गंधा विसर्ग रहेगा हाँ सर्वे गंधा अश्य सर्वगंध सुख करा दे दिया बीच में सर्वगंध कहेंगे तो दुर्गंध भी परमात्मा का होगा गंध है ठीक है ना सर्व शब्दात दुर्गंधा नाम अभी ब्रह्मणी प्राप्त हो विष्णष्टि सब गंध कहेंगे तो दुर्गंध भी ये विष्णष्टि सुख करा सर्वे गंधा जैसे धर्मा विरुद्ध भूते कामोस्मी इसी प्रकार सुख देने वाले गंध ही परमात्मा में दुख तो पाप के कारण है सर्व शब्द संकोच कारण न सर्व जब दिया सर्वे गंगा अस्य वो सर्व शब्द तो सब गंधों को कहेगा उसका संकोच करके सुख करो कहते विशेषण तो सर्व शब्द का संकोच क्यों करते बिना कारण शब्दार्थ संकोच नहीं करना चाहिए सब कर लेना चाहिए कारण मार पुण्यो गंध पृथ्वी गीता में भगवान कहते पृथ्वी में जो पुण्य गंध में हूँ पुण्यगंध गंध सुखकर गंध है यथा सर्वगंध इतर सुखकरा गंधा ब्रह्म संबंधी दर्शिता तथा सर्वरस इतरापि सुखकरा रसा तत्सबंधी ग्राह्य ऐसा जैसे सर्वगंध में सुखकर गंध ब्रह्म संबंधी है ऐसे कहा गया इस प्रकार आगे सर्वरस है यहाँ भी रस सुखकर रस लेना तत्सबंधे न ग्राह्य तत्सबंधे तत्शब्द तो से क्या लेंगे तत्सबंधी में तत्व से सुख कराय वर्षा तत्संबंधिनो ग्राह्य देना ब्रह्म ग्राह्यम उसके पहले नहीं ब्रह्म संबंधी न दर्शिता गंध जिस प्रकार ब्रह्म संबंधी न दर्शिता इसी प्रकार रस सभी तत्संबंधिनो ग्राह्य तत्व से ब्रह्म संबंधी में ग्राह्य तथा तथा रसा भी विज्ञा रस भी समझना है पुण्य रस है सुखकर रस परमात्मा है ठीक है ना अत्र सर्वसद संकोच कारण गंध का जैसे संकोच किया सर्व सर्वशब्द का संकोच किया गंध का विशेषण सर्वरस में सर्वशब्द का भी संकोच करने कारण कहते अपुण्य गंधरस ग्रहण से पापम संबंध निमित्तत्व श्रवणात अपुण्य गंध रस ग्रहण जो दुर्गंध का ग्रहण होता है अपुण्य रस है दुखकर रस ग्रहण होता है ये पापम संबंध निमित्तत्व श्रवणात पाप संबंध के कारण ही दुर्गंध ग्रहण होता है कुत्सित रस का ग्रहण होता है पाप के कारण ठीक है ऐसे घ्रहण नहीं न तद ग्रहण परस्मृति से सा दुर्गंध का ग्रहण परमात्मा में नहीं है पाप नहीं है तत्शब्दार्थमेव उपपादयती तस्मात् तेन उभयम जिघ्रति सुरभि च दुर्गंधि च दुर्गंधि च पात्मना हे सविद इति श्रुते तस्मात् तेन उभयम जिघ्रति वो जो उभय ग्रहण करता है जीव तस्मात जो तत्शब्द का अर्थ करते पापमना ये विद ऐसा जीव यस्मात पापमना विद घ्राण इंद्रिय पाप संबंध होने से घ्राण इंद्रिय से दोनों ग्रहण करता है सुगंध और दुर्गंध ऐसा घ्राण प्राणोक्ति ऐसा विद्ध ऐसे इति क घ्राण इंद्रिय घ्राणात्मक प्राण घ्राण इंद्रिय पाप से विद्ध होने से वो घ्राण इंद्रिय सुगंध तो ग्रहण करती दुर्गंध भी ग्रहण करती है भवतु पात्म संसर्ग कृतम अपुण्य गंधादि ग्रहणम तथा कथम तद ईश्वर सर्वज्ञ नास्ती जो अपुण्य गंध दुर्गंध ग्रहण कुत्सित रस ग्रहण पाप संबंध के कारण जीव में है ठीक है किंतु ईश्वर में क्यों नहीं तथा कथम तद ईश्वर सर्वज्ञ नास्ती ईश्वर जब सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है ना ईश्वर जीव को जो दुर्गंध ग्रहण जीव ग्रहण करता है ईश्वर दुर्गंध को जानते हैं नहीं जानते मतलब दुर्गंध ग्रहण करते हैं और नहीं करें तो सर्वज्ञ कैसे सर्वज्ञ से जाना पड़ेगा जीव जो कोई चाहे रज्जु में सर्प देकर भाग रहा है रज्जु में जो सर्प है वो यथार्थ है नहीं भ्रांति वो सर्प को ईश्वर देखते हैं नहीं देखते देखेंगे तो भ्रांत है नहीं देखेंगे तो असर्वज्ञ है राज्य में सर्प ईश्वर देखेंगे तो क्या होगा भ्रांत हो गए जीव जिस भ्रांत वो भी भागेंगे और नहीं देखेंगे तो सर्वज्ञ कैसे हो गए क्या कहना पड़ेगा देखते हैं कहेंगे नहीं देखते हैं देखेंगे तो क्या पति भ्रांत तो आपत्ति नहीं देखेंगे तो असर्वज्ञ तो आपत्ति सर्वज्ञ तो देखते हैं किंतु ये जीव को भ्रम हुआ ये भ्रम विषय सर्प ऐसा देखते हैं चैत्र को भ्रम हुआ रज में सर्प ईश्वर जानते इसको ये रज में इस प्रकार सर्प भ्रम हो रहा है ऐसे ज्ञानी की तो भ्रम होगा यदि आपको मालूम हो गया ये व्यक्ति इसमें सर्प देख रहा है इसे बड़े सर्प देख रहा है इसे मालूम हो गया तो आप भ्रांत है क्योंकि रज में सर्प देख रहा है ये तो ऐसे जानते हैं और जो भ्रांत है वो रज्जु में सर्प नहीं समझता है बोलता वास्तव सर्प करके दौड़ता है ईश्वर देखते रज्जु है ये सर्प समझ कर दौड़ रहा है उसे पास में कोई बैठा है देखता है देखता है ये कोई आदमी आया अपने दौड़ाने के लिए रखा है प्लास्टिक का सर्प छिप कर बैठा है बचा है लोग आते हैं सर्प कर डरते हैं बच्चा हंसेगा हंसेगा नहीं तो हंसता रहता है ये दौड़ दौड़ते इसी प्रकार ईश्वर जानते हैं प्रचार भ्रांत है नहीं इसी प्रकार ईश्वर जानते ये भ्रम विषय सर्प करके जानते इसलिए भ्रांत नहीं तो सर्वगंध है ईश्वर सर्वज्ञ है तो दुर्गंध भी ग्रहण करना चाहिए तथा कथम तद ईश्वर सर्वज्ञ नास्ती आशंका न च पात्मसंसर्ग ईश्वर से ईश्वर में पाप का संबंध नहीं है इसे दुर्गंध ग्रहण नहीं होता है क्यों नहीं पाप संसार होगा अविद्यादि दोष से अनुपते अविद्या काम आदि दोष होने पर ही पाप पुण्य का संबंध होता है निमित्त अभावाद ईश्वर से न स्वसंबंधित न अपुण्य गंधादि ग्रहण तेतः निमित्त है पाप नहीं होने से अपुण्य गंध का ग्रहण जब ईश्वर करते हैं यमों का जीव दुर्गंध ग्रहण कर रहा है करके ईश्वर को ज्ञान हुआ स्वसंबंधित दुर्गंध ग्रहण नहीं होता है स्वसंबंधित नहीं जीव दुर्गंध ग्रहण कर रहा है ईश्वर को मालूम है स्वसंबंधित दुर्गंध ग्रहण नहीं होता है पाप रूप निमित्त नहीं होने से तस्य पापमा संसर्गे हेतु पापमा संसर्गे पापमन असंसर्गे पापमा संसर्ग पापमन शब्द का प्रथमा होने का पापमा पुलिंग में पापमा संसर्ग में क्या समा कैसे समाज विग्रह होगा ष्टी समाज विग्रह कैसे पापमन संसर्ग पापमा संसर्ग हो जाएगा पापमन असंसर्ग बनेगा पापमा तो संसर्ग क्या हुआ ठीक है पापमन असंसर्ग तस्य पापमा संसर्ग तुम्हार तस्य ईश्वर से पाप से संबंध नहीं उसमें कारण बताते हैं अविद्यादि दोष से अनुभवते अविद्यादि दोष होने पर ही पाप संबंध होता है ईश्वर में अविद्या का कर्म नहीं तो पाप संसर्ग नहीं होगा आदि पदे न अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि गृह अविद्या आदि अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि से काम ये नहीं होने से पाप संबंध नहीं होता है सर्वमिदम जगत अभ्यात्तो अभ्यात्त का तो अभिव्याप्त अभी आंक्रोक अतधातु से टीका नहीं अभ्यात्त रूपम तदर्थम से दर्शन कर्मण निष्ठान व्यापरते अभ्यास ये रूप है उसको अर्थ दिखाते हुए अर्धशास्त्र से निष्ठा करेंगे अर्ध से निष्ठा निष्ठा प्रत्यय अर्ध से तव करें तो क्या बनेगा अपता दीर्घ हो जाएगा हर्ष रहेगा धातु से निष्ठा करेंगे तो क्या बनेगा आत्म आ कैसे हो जाएगा अतः बता दे निष्ठा त पर रहेगा तो अतोबुदा बुद्धि हो जाएगी अभ्यात है सर्वमिदम अभ्यातम अभिपूर्वक आभ्य और आंग आगे अध से आगे निष्ठा है अभ्यास निष्ठा करें तो यह होना चाहिए रदाध्याम निष्ठा तो न पूर्व से चत अन्न बनता है अधदास निष्ठा करने पर अन्न होता है यहाँ अतते है यहाँ अत धातु अध धातु नहीं धातु क्या है अत सातत्य गमन अध भक्षण अर्थ को करेंगे तो अन्न हो जाएगा धातु क्या है अत अत में तकार आगे त अत हो जाएगा यहाँ जो त है त प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाव कर्म में होता है भाव कर्म होता है कर्तरी कहीं होता है कर्तरी होता है गत्यर्था कर्म के एक सूत्र गत्यर्था कर्म अत्य धातु से अकर्म धातु से कर्तरी होता है निष्ठापत्य इसे निष्ठापत्य यहाँ कर्ता अर्थ में कर्मणि निष्ठान व्यावृत थी यहाँ कर्मणि निष्ठा नहीं है भाष्य में अततेर व्याप्त्यर्थ से कर्तरी निष्ठा अत धातु ये व्याप्त्यर्थ अत सात्य को है व्यापक अर्थ है निष्ठा किस अर्थ में हुआ कर्तरी गत्यर्था कर्म कैसे सूत्र है पहला क्या है गत्यर्था कर्म का सिंह आदि धातु आता है कर्तरी निष्ठा है याद कर ना कर्म गत्यर्था कर्म का नोट करो गत्यर्था कर्म का ये कर्तरी निष्ठा करते तो होते भाव कर्म में तो है गत्यर्था कर्म को सिंह था अस धातु अकर्म धातु गत्यर्थ धातु वो भोजन धातु सब निष्ठा प्रत तो कर्तरी तो यहाँ अप्त है निष्ठा स्वयं व्याप्त है सर्वत्र गत है वाक आगे आगे तथा अवाकी अवाकी उच्यते अनयायती वाक उच्यते अनयायती वाक वाग एवं वाक वस्तु धातु तो से कोई प्रत्यय होता है वाक ये तो बनता है लघु कम सूत्र है क्या है कुछ कोई भी है बसी प्रति आगे छोड़ देते तो बसी प्रति आए तस्तु तो कटपुर दूसरे नाम दीर्घ दीर्घ नहीं कोई भी वसी प्रति आए तस्तु तो कटपुर दूसरे नाम लघु कम में दीर्घो असंप्रसारण च दीर्घ हो गया और संप्रसारण नहीं हुआ तो वाक बन गया लघु कम नहीं है वाक बनता है उच्च से अन्य आए थे वाक वाक वाक यद वह वचे घयर्थ से करने वाक वचदा से घय करेंगे लघु नहीं लघु कहेंगे कोई बची पची आए तो तुकट बुझ लेना है नहीं लघु में क्या लघु किसने पढ़ी लघु में है नहीं मालूम नहीं ये भी पता नहीं नहीं भी कहने नहीं सकते हैं गलत है वाक वाक यद वा वचे घयंत से करने वाक भय करने की बात तो स यस्य विद्यते स वाति न बाकी थे अबाकी तो ठीक है नहीं अत्र श्रुते ईश्वर से वृत्ति अत्र आगे वाक प्रतिषेध अत्र उपलक्षणार्थ अत्र का श्रुति अथवा ईश्वर में ईश्वर में वाक का प्रतिषेध किया अथवा श्रुति में अवाकी कहा गया ये उपलक्षण के लिए केवल राग का नहीं सबका प्रतिषेध है उपलक्षणार्थ घ्राणादि प्रतिषेध से विशेष घ्राणादि कोई भी इंद्रिय नहीं ईश्वर में गंधरसादि श्रवणादि ईश्वर से प्राप्ता घ्राणादि करना गंधादि करणाय गंधरसादि जो सर्वगंध सर्वरसादि कहा गया ईश्वर में प्राप्त होते घ्राणादि इंद्रिय गंधादि ग्रहण करने के लिए अतो वाद प्रतिषेधन प्रतिषिध्यंत कहानी कहानी कहानी का भी प्रतिषेध करते हैं वाद प्रतिषेध के द्वारा टीका में अत ईश्वर घृणादि प्राप्त अभाव तत्प्रतिषेध नोपलक्षा पहले ईश्वर में घ्राणादि की प्राप्ति हो तो उसका प्रतिषेध करेंगे उपलक्षण करके वो तो प्राप्त ही नहीं कहते प्राप्त है क्योंकि सर्वगंध सर्वरस जब आया तो यदि गंध सब कुछ में है रस भी है तो ग्रहण करते होंगे आदि शब्द न कामादियुक्त काम भी सर्व काम कहा गया युक्तम च अन्य उपलक्षण साक्षात एवं अन्यत्र प्रतिषेध श्रवनादि क्या अन्य का उपलक्षण करना चाहिए वाक शब्द से वाक इंद्रिय नहीं है चक्षुरादि इंद्रिय भी नहीं है ये तो उपरचना करना चाहिए क्योंकि अन्यत्र श्रुति में साक्षात स्पष्ट शब्द से प्रतिषेध किया अपानी पादु जवनोग्रहिता पश्चात चक्षुता चुनौत्या करना इत्यादि मंत्र बना श्वेता सतर उपनिषद आया अपानी पादो पानी जब पादु पादु चैती पानी पानी पादा अविद्यमान पादा यश्य जिसके हाथ पाद नहीं है वो क्या होगा पाद अपानी पाद है या पानी है दोनों में पाद में पहले द्वंद्व करके फिर नए अस्थान बहुवाच्य वाचोत्तरपद अविद्यमान अविद्यमान पादा यस्य पानी नहीं फिर ग्रहिता और पाद नहीं फिर भी जवन अपानी पाद होते हुए जवन ग्रहिता जवन मतलब जो गते तो चलने वाले दौड़ने वाले पाद नहीं होने पर भी चलने वाले सर्वत्र पहुंच जाते हैं भंडारा में जहाँ बुलाओ नहीं बुलाओ भंडारा हो था नहीं हो जड़ चेतन सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा जवन और ग्रहिता पानी नहीं होने पर भी पश्यत्य अचक्षुष सुनत्य कर्म अचक्षुषण पश्यती अकर्णतन चुनौती सख्य सत्य के बिना सुनते तो ये स्पष्ट कहा गया इंद्रिय नहीं है इसलिए अवाक शब्द से केवल वाक में उपलक्षण करके सब इंद्रिय का निषेध करना आदि पदे में सवेत्य वेद्यम इत्यादि थे सवेत्य वेद्यम न तस्याति वेत्ता तमाम पुरुष महात्म वो सब वेद्य को तो परमात्मा जानते हैं उसको जानने वाला कोई नहीं है न तस् न तस्य वेत्तास्ती तमाहुर अग्रियम पुरुष महान उसको महापुरुष कहते हैं अग्रियम अग्रे भव ईश्वर से संभ्रमाभाव प्रतिपादित अभाव की आगे असंभ्रम असंभ्रम का अर्थ संभ्रम का असंभ्रम का अर्थ करते अनादर अनादरो असंभ्रम संभ्रम में आदर श्रद्धा और असंभ्रम है इसका अभाव ईश्वर में संभ्रम नहीं इसका प्रतिपादन करते अप्राप्त प्राप्त ही अप्राप्त प्राप्त ही संभ्रम सियाद अनाप्त काम से जो आप्त काम नहीं है आपता काम ये न आप्त काम सब इच्छा प्राप्त हो जाए तो क्यों क्या कहेंगे आप्त काम जो नहीं आप्त काम नहीं अनाथ काम चाहता तो कुछ मिलता नहीं जीव होता अनाथ काम जो अनाथ काम है और जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होने पर बड़े खुश हो जाता है संभ्रम आदर श्रद्धा बड़े खुश हो गया जो चाहता मिल गया अप्राप्त प्राप्त ही अनाथ काम से संभ्रम ईश्वर आप्त काम है अनाथ काम है न तो आप्त काम नित्य तृप्त से ईश्वर से संभ्रम अस्थित ईश्वर आप तो काम है तृप्त है कभी ईश्वर है नित्य तृप्त है नित्य तृप्त है कभी कभी नहीं नित्य तृप्त है ईश्वर से संभ्रम क्वचित नाती कहीं भी आधार ही तृप्त है क्या प्राप्त होना सब प्राप्त है जिसको कोई वस्तु प्राप्त करने की इस वस्तु की इच्छा है मिल जाने से खुश होता है संभ्रम होता है आदर होता है बड़े खुश होकर नाचने लग जाता है और ईश्वर नित्य तृप्त है कुछ प्राप्त होने से कुछ अधिक है नहीं प्राप्त होने का ज्ञान इस प्रकार नित्य तृप्त होता है किसी वस्तु की प्राप्ति से संभ्रम आदर कुछ नहीं सब उसको प्राप्त ही है देखता है सब मिथ्या है ये सब कुछ मेरे में अत्यस्त है नित्य तृप्त होता है माँ की असंभ्रम ईश्वर है सुखी हो गया सर्वम इदम अभ्यात्तम की अनादर अविद्यमान आदुर्य यथोक्त पर प्रत्येगात्मा भेदम दर्शयती यथोक्त पर यथोक्त जो परमात्मा है जो मनोमय प्राण सद्यादि का प्रत्येगात्मा भेदम क्या था प्रत्येगात्मा से भेद अभेद प्रत्येगात्मन अभेदम प्रत्येगात्मा भेदम आत्मन अभेदम आत्मा न पंचमी के आगे समाज का अभेद प्रत्येक आत्मा से अभेद दिखाते हैं परमात्मा में प्रत्येक आत्मा अभिन्नत्व है हे सम आत्मांतर हृदय अनियान ब्रियवा यवाद वा सरसपाद वा श्यामाकाद वा श्यामा का तंडुलाद वा ईश्वम आत्मांतर हृदय जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवो जयनेभ्यो लोकेभ्य ऐसा में आत्मा अंतर्हृदय जो मनोमय प्राण सदादि सर्व खलुदम ब्रह्म पहले आरंभ हुआ था सर्व खलुदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित ब्रह्म की उपासना करने के लिए सक्रतुम कुर्वित क्रतु संकल्प कैसे करे तो मनोमय प्राण सदादि ऐसे ध्यान चिंतन करने के लिए कहा गया जो ब्रह्म कहा गया ऐसा म आत्मा अंतर हृदय म का मैं यही मेरे आत्मा है हृदय का अंतर है ये सब मैं आत्मा वही मेरी आत्मा है जो ब्रह्म वही मैं आत्मा हृदय की बुद्धि में है सर्वव्यापक तो है किंतु हृदय में उसकी उपलब्धि होने से हृदय हृदय से जुन तिष्ठती कितने बड़ा है अनियान ब्रियर ब्रीह से भी छोटा है धान यह बाद जब से भी छोटा है सरसपाद वा जब से छोटा है सरसप है कहते हैं उससे भी और छोटा है सरसप सरस से भी छोटा है श्यामा का श्यामा का समा कहते एकादशी को बनाते श्यामा का श्यामा का श्यामा कहते तो श्यामा का और केवल श्यामा नहीं श्यामा का तंडुलाद श्यामा का छिलका निकाल देंगे तो तंडुला उससे भी छोटा है अति छोटा सूक्ष्म सूक्ष्मतर अत्यंत सूक्ष्म को आने के लिए अनेक दृष्टान्त दिया ऐसा आत्मा अंतर हृदय यही मेरा आत्मा हृदय बुद्धि के अंदर है अति छोटा होने से कुछ लोग कहते आत्मा अनुरूप है परमाणु रूप है छोटा का है बृह से सरसप से श्यामा का छोटा तो आत्मा का कितना बड़ा होगा परमाणु रूप होगा कहते परमाणु नहीं है अणुरणियान जहाँ कहा गया वहाँ कहा गया महत्व महिया जो लोग अणु कहना चाहते हैं ना महत्व तो मणियान को तो छोड़ देंगे उसमें काज मारते हैं क्या कहेंगे अनुरणिया अपना मत सिद्ध करने के लिए उदाहरण देखिए सूत्र में कहा गया अनुरणिया जहाँ अनुरणिया ने उसके साथ साथ ये महत्व तो मैया उसको छोड़कर कहते हैं यहाँ भी कह दिया छोटा कह करके आगे कहते जायान पृथिव्या जायान अंतरिचार जायान दिव जायान एभ्य लोकेभ्य जो सूक्ष्म कहा है यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम उपलिप्यते आकाश को भी सूक्ष्म कहा किंतु सर्वगत कहा नहीं यथा सर्वगतम सौक्ष्माद आकाशम उपलिप्यते सूक्ष्म आकाश को सर्वगत कहा जो सर्वगत है वो तो परमाणु रूप होगा परमाणु रूप होगा ना तब तभी सर्वगत बनेगा जो सर्वगत है तो परमाणु रूप होगा नहीं परमाणु होगा तो सर्वगत कैसे होगा वो कहते सर्वगत इसलिए ये परमाणु कभी यहाँ है कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ जो कभी यहाँ वो कभी यहाँ है कभी उसको सर्वगत कहते हैं तो इसे अर्थ करेंगे परमाणु सर्वगत कैसे यहाँ तो है अभी किंतु थोड़ी देर में उधर चला थोड़ी देर उधर थोड़ी देर बॉम्बे थोड़ी देर महाराष्ट्र थोड़ी देर अमेरिका कहीं चला गया कभी सर्वगत हो गया इसको सर्वगत कहते हैं आकाश जैसे सर्वगत है इसी प्रकार आत्मा सर्वगत है और सूक्ष्म कह करके जो सर्वगत कहा गया उसका अर्थ नहीं सूक्ष्म परिमाण अनुपरिमाण नहीं है पृथ्वी से भी बड़ा है जयान उससे बड़ा है प्रशस्तर जयान अंतरिक्षा आकाश भी बड़ा है जयान दिव दिव का क्या होगा स्वर्ग से भी बड़ा है कि जयान एभ्य लोके भी सब लोक से भी बढ़ करके बड़ा है इसलिए अनुपरिमाण नहीं है ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः